और तुम तो खुद मौत का सामना करने से पहले शहादत की मौत की तमन्ना किया करते थे चुनाचे अब तुमने खुली आंखों उसे देख लिया है